श्रीलंका ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन का विदेश विभाग है आपका पुराना साथी रेडियो सिलोंग भाइयों आज मैं गीत माना की छाओ में उनकी शुरुआत एक ख्याली डॉक्टर और एक सचमुच का तंदुरुस्ती की दवाइयां बेचने वाला सेल्समैन बनकर आपसे पूछना चाहता हूं कि क्या आपको रातों में नींद नहीं आती दिल में दर्द रहता है खाने पीने में दिल नहीं लगता अरे तो फिक्र करने की कोई बात नहीं है भाई आपको कोई भी तन का रोग नहीं लगा बस प्रॉब्लम है आपके मन की क्योंकि भाई आपने सुना है ना मोहब्बत करने वालों का मोहब्बत करने वालों का यही अंजाम होता है तड़पना उनकी किस्मत में तड़पना उनकी किस्मत में तो सुबह शाम हो अगर आप मोहब्बत कर बैठे हैं अच्छे मनभावन दिल को छू लेने वाले रोमांटिक गीतों से तो हम आपको यही गीतमाला की छाव में इलाज दिलवा देंगे यानी आपको दवाई के रूप में पिलवा देंगे रसीले गीतों का जोशानदा हो सॉरी वनर भाई जोशानदा नहीं मेरा मतलब है शरबत पीजिए घटाघट अब आप कहेंगे कि आए ये कौन सा म्यूजिक था भाई जो बस बिन बुलाया आया और फिर खटाक से गायब हो गया <laughs> तो अरे भाई यही तो था वो संगीत जो पहले पहले वर्षों में गीतमाला रेडियो प्रोग्राम की शुरू और आखिर में बजा करता था तो बस पैनोर भाइयों अब आप बैठ जाइए जल्दी से अपने रेडियो दोस्त अमीन सायानी के साथ गीतमाला की छाव में और मजा लीजिए आपसे मिलने के लिए यहाँ आती हुई बातों का और गीतों का और ये देखिए ये कौन आया मैं पेश कर रहा हूं वो हिट गीत भी और वो जरा कम हिट भूले बिसरे लाजवाब गीत भी जो उन्नीस तक के गीत थे जब तक रेडियो प्रोग्राम गीतमाला में हिट परेड यानी संगीत सीढ़ी शुरू नहीं हुई थी और इन वॉल्यूम्स में आपको उस जमाने के गीतों के जन्मदाताओं की एक अच्छी खासी वैरायटी मिलेगी ये वो लोग थे बहनों भाइयों जिन्होंने मेरे ही नहीं बल्कि आप में से भी कईयों के बचपन को रंगीन और जवानी को हसीन बनाया था और इनके गीतों से होकर मैं कभी कभी आपको उन फिल्म स्टारों के करीब ले जाता हूँ जिन पर ये गीत फिल्माए गए थे यहाँ तो लीजिए एक गजब की फिल्म स्टार और टीवी स्टार का बचपन अब आपके सामने आने वाला है और आपको तो हमें बताना है कि इस गीत में स्क्रीन पर नजर आने वाले ये दो जो बच्चे हैं ना एक लड़का और एक लड़की ये कौन थे ओ बचपन के दिन भुलाना देना ओ बचपन के दिन जिसमें दीप जलाए दीप जलाए बच्चों में ये जो छोटी सी गोल मटोल लड़की थी ना वो आज बड़ी होकर भी कुछ कम गोल मटोल नहीं है बहनों भाइयों हाँ, यह ये है आज की जबरदस्त टीवी और स्टेज की स्टार मेरी मुंह बोली छोटी बहन बल्कि छोटी मोटी बहन तबस्सुम जो बेबी तबस्सुम के रूप में कई फिल्मों में नजर आई थी आ, मगर उसके बहुत साल बाद टीवी पर धमाका करने से पहले कई वर्षों तक मेरे साथ रेडियो पर भी कह कहो के फूल खिलाती रही तो भाई तबसुम तो जरा बताओ तो इस घुड़सवारी वाले गीत के बारे में और इसकी फिल्म के बारे में हुँ? हम्म? उस फिल्म में हीरो थे दिलीप कुमार अशोक कुमार और हीरो ने थी नरगिस और निमी साथ में एक बड़े जबरदस्त विलन थे याकूब अपने जमाने के टॉप मोस्ट विलन और इतनी बड़ी कास्ट के साथ मेरा नाम आता था एंड बेबी तबस्सुम यानी दिलीप कुमार अशोक कुमार नरगिस निन्नी याकूब एंड बेबी तबस्सुम तो मेरे जहन में कुछ ऐसा असर पड़ गया था मैं समझती थी मेरा पूरा नाम जो है वो एंड बेबी तबस्सुम है चुनाचे लोग जब मुझसे पूछते थे कि बेटा तुम्हारा नाम क्या है तो मैं बड़े इतराज से कहा करती थी एंड बेबी तबस्सुम <laughs> क्या बात है क्या बात है अच्छा भाई एंड तबस्सुम अब जरा पॉइंट पर भी आ जाओ ना यानी बचपन के दिन वाले गीत पर आ जाओ इस फिल्म का नाम था दीदार और इसमें छोटे दिलीप कुमार बने थे बलराज साहनी जी के बेटे परीक्षित साहनी और मैं बनी थी छोटी नरगिस और हम दोनों ने मिलकर घोड़े पे ये गाना गाया था और घोड़े से मुझे याद आया इस फिल्म के डायरेक्टर थे नितिन बोस उन्होंने कहा इन दोनों बच्चों को तो जाने दो एक बच्चा तो पीछे बैठा हुआ है उससे घुड़सवारी आए या ना आए लेकिन बेबी तबस्सुम का डुप्लीकेट मैं यूज नहीं करूंगा चुनाची उन्होंने खास तौर पे छह महीने तक मुझे हॉर्स राइडिंग सिखवाई जी हाँ हम्म, भाई वाह वाह तुम्हारी बात सुनकर बहुत मजा आया तबस्सुम खुश रहो और तंदुरुस्त रहो और फूलो फलो नहीं नहीं बहुत ज्यादा नहीं है हाँ, हाँ, अच्छा मगर साथ ही आप जरा हो जाओ चुप ओके नहीं तो भाई मुझे गीतमाला की कहानी आगे बढ़ाने का चांस ही नहीं मिलेगा अगर तुम बोलती रही ठीक है अच्छा अच्छा थैंक यू अच्छा तो बहनों भाइयों मैंने आपको बताया था कि दिसंबर उन्नीस में गीतमाला का रेडियो प्रोग्राम रेडियो सिलोन पर शुरू हुआ एक कंपटीशन के रूप में पहले ही प्रोग्राम के लिए चिट्ठियां आई 9000 और उसके बाद हर हफ्ते बस बढ़ती गई 9 से 15000 15 से पच्चीस और फिर पैंतीस हजार और उसके बाद खैर उसके बाद जाकर क्या हुआ ये आप वॉल्यूम नंबर तीन और चार में सुनेंगे मगर फिलहाल इतना जान लीजिए कि आपकी गीतमाला की धूम न सिर्फ सारे हिंदुस्तान में मचने लगी थी तब तक बल्कि सारे एशिया को कवर करते हुए ईस्ट अफ्रीका तक भी पहुंच गई थी जहां क्योंकि उन दिनों रेडियो सिलोन का ट्रांसमीटर जो था वो बड़ा ही पावरफुल था और हिंदी फिल्मों के संगीत के चाहने वाले दूर दूर तक फैले हुए थे जैसे आज भी हैं और ये सब करोड़ों लोग बड़े बूढ़े भी और बच्चे और नौजवान भी गीत माला के संगीत में मस्त होकर शायद यूं महसूस करने लगे थे कि वो मोहब्बत और मजे की बरखा में भीग कर खुद उड़ा रहे हो गुल छर्रे हम तुम ये बहार देखो रंग लाया प्यार बरसात के महीने में झिम हम तुम ये बहार देखो रंग लाया प्यार बरसात के महीने में बादल बन के छाई है तेरी जुल्फों की ये रंगत है जो बादल बन के छाई है जो बादल बन के छाई है बन के आई है मेरा कम जब तक की चमक मेरे दिल के नगीने में याद है ये गाना आपको ये भी आया था तब जब गीत मारा जन्मी थी यानी उन्नीस में खैर साहब अब जरा होशियार गीत माला की छाव में अब आने वाले हैं एक एवरग्रीन स्टार अब ये जो मैंने कहा आने वाले हैं इससे मेरा मतलब है उनकी आवाज आने वाली है वो तो भाई अब रहे नहीं इस दुनिया में ये वो है बैनो भाइयों जिन्होंने एक्टिंग शुरू की थी उस जमाने में जब हर हीरो को अपने गीत खुद ही गाने पड़ते थे ऐसे मैं जाने किधर आज मेरी नाव चली रे मैं जाने किधर आज मेरी नाव चली रे चली रे चली रे मेरी नाव चली रे चली रे चली अशोक कुमार की गाती हुई आवाज थी मगर बहनों भाई दादा मोनी अशोक कुमार का ये गाना पूरा बजाना जरा मुश्किल लग रहा है मुझे क्योंकि उनका वो स्टाइल जो था ना वो आजकल जरा अजीब सा लगता है आपको भी लगता है ना हाँ <laughs> बल्कि एक इंटरव्यू तो मेरे पास ऐसा भी है मानो भाइयों जिसमें उन्हीं के छोटे भाई किशोर कुमार ने उनके गाने की अच्छी खासी टांग खिंचाई की थी <laughs> जी हाँ मगर भाई कुछ भी कहिए इसमें बिल्कुल शक नहीं कि अशोक कुमार के वो गाने अपने जमाने के हिट गाने हुआ करते थे खास तौर पर अगर उनकी आवाज को बैलेंस करने के लिए उनकी हीरोइन भी साथ गाती बल बल बोलू रे मैं बन की चिड़िया बन के बल बल बोलू रे मैं बन का पंछी बन के सन सन बोलू रे मैं बन का पंछी बन के सन सन बोलू खैर मानो भाई मैं आपसे कहना ये चाहता हूँ कि एक बार कई साल पहले मैं फिल्म स्टारों के इस मशहूर अलंबरदार अशोक कुमार को इंटरव्यू करने के लिए उनके घर गया और मैंने उनसे पूछा दादा मुनि आपने वैसे तो नजारे कितनी सुपरहिट फिल्मों में काम किया होगा पर अगर आपको अपनी बिल्कुल पहली फिल्म की पहली शूटिंग के बारे में कुछ याद हो तो हमें जरा बताइए ना जब मैं फिल्म में आया पहली बार कैमरे के सामने खड़ा हुआ जी तो अपने डायरेक्टर थे वो फ्रांस ऑस्टिन जर्मन थे अच्छा अच्छा फिल्म कौन सी थी सर फिल्म का नाम था जीवन नैया अच्छा हाँ, हाँ उन्नीस सौ चौंतीस साल हम्म। तो पहली बार जब मैं आया तो डायरेक्टर ने कहा मैं तो बड़ा शर्माता था मैं करना नहीं चाहता था तो बहुत समझा बुझा के मुझे साथ ले आया उन्होंने कहा कि शॉट कुछ मुश्किल नहीं है हम्म। तुम खिड़की से उछल के आओगे हम्म। और उछलने के बाद आके देवी करानी रानी और हीरोइन थी और मसी था विलेन इन दोनों को तुम अलग कर दो अच्छा, अच्छा। बस उसके बाद शॉर्ट खत्म तो छोटा शॉर्ट है दो बजे के बाद खाना वाना खा के आया लिपस्टिक लगाए हुए <laughs> उस लड़कों को भी लिपस्टिक लगाया जाता था बड़े जोरों का हाँ, हाँ, अभी भी लगाते हैं लेकिन अच्छा <laughs> तो उनने कहा कि मैं जब क्लैप जब तुम क्लैप सुनो उसके दस गिन के उछल के आ जाओ खिड़की में से हम्म। तो उनने क्लैप मारा और मैं इतना घबराया हुआ था कि दस का दो ही गिना हूँ एकदम उछल के आया उछल के उन दोनों पर इस बुरी तरह से गिरा <laughs> कि बाएं तरफ चले गए विलन और दाएं तरफ गिर गई देवी का रानी और दोनों खड़े हो गए शॉर्टकट हो गया हम्म। वो तो खड़ा नहीं हो सका विलन डॉक्टर बुलाया गया उन्होंने कहा उसका पैर टूट गया भाई चार महीना हॉस्पिटल रहना पड़ेगा ये पहला शॉर्टकट था दोस्तों कमाल देखिए इस गजब के फिल्म स्टार अशोक कुमार का कि आधी सदी से भी ज्यादा ये फिल्मों में बड़ी खूबी से काम करते रहे और इनमें से कई वर्षों तक यानी आखिर में जाकर कैरेक्टर एक्टर बनने से पहले ये अच्छे खासे स्मार्ट और खूबरू हीरो बने रहे जिनके प्यार के इंतजार में न जाने कितनी हीरोइनें आंखें बिछाए रहती थीं अच्छा भाई देखिए संगीत प्रेमियों के दिलों में आना और आके वहाँ बस जाना तभी होता था जब धुन और शायरी और गायन तीनों मन भावन होते थे और उन मन भावन गीतों की सबसे बड़ी खूबी होती थी उनकी सरलता उनकी सादगी ऐसे गीत होते थे जो कोई भी गा सके कोई भी समझ सके सके उन अमर गीतों से मैंने भी संचार यानी कम्युनिकेशन यानी रबते और बातचीत की अच्छी खासी सादगी सीख ली थी भाषा तो भाई मेरी वैसे भी आसान थी क्योंकि क्लिष्ट हिंदी या मुश्किल उर्दू तो मैंने कभी सीखी ही नहीं थी बस भक्त कबीर के उस मशहूर दोहे का सहारा था कि पोथी पढ़ी पढ़ी जगमो पंडित भयो न कोय ढाई आखर यानी ढाई अक्षर प्रेम का पढ़े सुपंडित होए मतलब ये कि सिर्फ पोथियां या बड़ी बड़ी किताबें पढ़ने से कोई पंडित आलिम नहीं बनता सबसे ज्यादा जरूरी है अपने सीने में प्यार भरना और भाई प्यार तो बहुत था मुझ में और वो सारा प्यार मैंने दे दिया गीतमाला को यानी यानी अपने कॉलेज की लड़कियों के लिए थोड़ा बहुत हंसने बोलने वाला शरीफ निर्दोष प्यार तो मैंने बजाय रखा मगर बाकी सारा प्यार दे दिया अपनी स्वीट हार्ट नंबर वन यानी गीतमाला मोहब्बत की बताएंगे हम इस गमी से अलग आसमान से कोई नहीं है जहाँ मिल रहे हैं वहाँ पर जमी आसमां मिल रहे हैं वहाँ पर जमी आसमां छुप के दुनिया से फिर क्यों न मिल जाए हम इस जमी कितना अच्छा होता